ज्ञानालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा प्रणीत उपदेश किसी प्रकार से अपने मुख्य साधक को अपने स्वरूप का बोध हो जाए जिससे कि शास्त्र संबंधित अनुसार जो चार पुरुषार्थ कहते हैं चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसमें मोक्ष परम पुरुषार्थ है अलग अलग वादियों के इस मुक्त संबंधित अलग अलग प्रकार के विचार है परंतु शास्त्र संबंधित विचार जो हमारे जितना आस्तिक दर्शन है आस्तिक दर्शन में सभी ने यही कहा कि ज्ञान से ही मुक्ति है अब कितना वस्तु का ज्ञान है इसको लेकर के तो थोड़ा विवाद है कोई कहता है एक वस्तु कोई कहता है दो वस्तु कोई कहता है सात वस्तु कोई कहता है सोलह वस्तु के विवेक इस प्रकार से अलग अलग थोड़ा भिन्नता होने पर भी परंतु कोई कहता उपासना से वो भी ज्ञानी है तो ये जो भिन्नता है ये होने पर भी वृत्ति ज्ञानात्मा मुक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है वेदांत सिद्धांत तो एक ही है बस अपने स्वरूप को जानो अपने स्वरूप की चिंतन के फल स्वरूप ही ये जो है भगवान क्योंकि मुक्त मुक्ति हमारा नित्य स्वरूप भूत होगा मुक्ति कोई कि यह असाध्य वस्तु नहीं असिद्ध वस्तु है यदि साध्य वस्तु होगा तभी वो मुक्ति भी क्या हो जाएगा स्वर्ग आदि के समान स्वर्ग वो भी अनित्य वस्तु होगा तो इस मुक्ति से असर्ग फल से क्या भिन्नता होगी इसलिए शास्त्र ने ये लिखा है कि मुक्ति तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप है पहले से ही मुक्त बंधन नामक कोई वस्तु तुम्हारे है ही नहीं किंतु तो हमने अज्ञान से बंधन के अनुभव करते हैं और ज्ञान होने पर वो बंधन बैठ जाते हैं बंधन हट जाते हैं बस इतना ही है तो कल हम लोगों ने कहा तक पढ़ लिए थे ये जो राइट चौथा श्लोक चौथा श्लोक पढ़ा था शुद्ध जागृत तो ये चौथा श्लोक पढ़ा था जी जी वो जो right conception of the nature of consciousness मतलब हमें दृष्टा स्वरूप मात्र हूँ मैं शुद्ध चेतन हूँ व्यापक हूँ असंग हूँ बस इस भाव को समझना इसी को समझाते हुए बोले थे मैं दृष्टा हूँ आकाश की तरह व्यापक हूँ और एक बार ये प्रकाश समझ में आ जाए तो फोकस के बुझते नहीं है मैं जन्म से रहित एक व्यय रहित जन्म मृत्यु रहित एक स्वसंग व्यापक तत्व हूँ इस प्रकार से बार बार मैं नित्यम सप्तम विमुक्तम और ओम ओंकार जो परमात्मा की स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है इस प्रकार से मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ मुक्त हूँ मेरे किसी से सुंदर हूँ फिर भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं है आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है मैं सबके अंदर अनुशुद्ध हूँ परंतु उस वस्तु धर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है एक ही चीज को जो छह भाव विकार जो है वो मुझ में नहीं है और वो मैं स्वयं प्रकाश हूँ मेरे को जानने के लिए किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है और कार्य कारण भाव मुझ में नहीं है मैं ना किसी का कारण हूं ना किसी का कार्य हूं एक हमेशा पूर्ण तृप्त स्वरूप वाला हमेशा मुक्त स्वरूप जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो हम लोग अपने में दिखाई पड़ते हैं और जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी मेरा नहीं है वो शरीर इंद्र मन बुद्धि जो कल्पित है उसी में जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी कल्पित है जागृत स्वप्न सुषुप्त दर्शनम न में अस्ति किंचित सम इव इह जिस प्रकार ये अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ये प्रतीति मात्र होते हैं मोहित होकर के सतश्चते परत्व असत्यम क्योंकि उन लोगों ने जागृत स्वप्न सुषुप्ति शरीर इंद्र मन बुद्धि का तो अपना पारमार्थिक सत्ता है ही नहीं वह प्रतीति मात्र है तो शरीर के धर्म यही जब सत्ता नहीं है तो उसके धर्म को कहाँ से हमारा मतलब सत्य होगा वो भी कल्पित है मैं तो केवल एक जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अंदर अनुसूत परंतु जागृत स्वप्न सुषुप्ति से बिल्कुल विलक्षण ही स्वरूप है ये तुरी अवस्था यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है ये चार नंबर तक हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे आप इसी को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं कि अपने स्वरूप के चिंतन बार बार बार बार यही संसार के कई चिंतन को हटा करके ये जो हमारे वैराग्य शतक में यही बोल रहे हैं मन संसार के चिंतन करके क्या करोगे ये स्वयं शिव शिव के चरण में मन को कल्याण करी मंगल में आत्म तत्व में अपने मन को लगाओ तो समस्त मतलब सारा जन्म के जितना संचित पाप पुण्य सब चला जाएगा अपने स्वरूप का अनुभव करके तुम जन्म मृत्यु के बंधन से छूट करके बस ये जो है मुक्ति के जीवन मुक्ति से विजय कई बल्लों के प्राप्त कर जाओगे और यही तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप है बिना कारण जो है सांसारिक वस्तु को चिंतन करके बस उसी में घूमते रहते हैं क्योंकि उसी कारण से एक के बाद एक जन्म भी मिलता है इसलिए शरीर इंद्र मन बुद्धि ये कोई पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है इसलिए इसके अधीन होकर के जीना जो है वो उचित नहीं है इसको मन में रखते हुए बोल रहे देखिए शरीर बुद्धि इंद्रिय दुख संततिर न मे न च अहम मम निर्विकारतः असत्त हेतुश्च तथैव सन्तते असत्यमस्य शपथो हि दृश्यवत् शरीरबुद्धीन्द्रिय दुःखसन्ततेर्न मे न चाहं मम निर्विकारत असत्त हेतुश्च तथैव सन्ततेर् असत्यमस्य शपथ हि दृश्यवत् शरीर इंद्रिय मान बुद्धि शरीर इंद्रिय बुद्धि शरीर बुद्धि इंद्रिय दुख संत ये सब परिवर्तनशील है और इसी का इसी के साथ तादात्मक दुख वहीं पे है शारीरिक दुख है मानसिक दुख है बौद्धिक दुख है वहीं पे है ये दुख के एक नहीं है दुख की संतति जुड़ा हुआ है वहां पे परंतु न में वो ना मेरा है ना मैं दुख रूप हूं ना अहम और न मैं ना मैं शरीर रूप हूँ ना शरीर मेरा है न मैं कश्चित ना मम कश्चित ना क्योंकि वो तो है नहीं एक मिथ्या वस्तु को अपना मानने से क्या लाभ है वो मेरा है जो वस्तु पारमार्थिक है ही नहीं जिस वस्तु हमको केवल दुखी दे रहा है उसको पकड़ के रखने से क्या लाभ है उसके साथ तीनों काल में मेरा कोई संबंध नहीं है क्यों क्योंकि मैं तो निर्विकार हूँ मैं विकार रहित आकार रहित हूँ निर्विकार अर्थात अशील पत्र पंचमी अर्थ होने के कारण विकार रहित होने के कारण और वो लोग क्या है असत हेतु वो अपने आप भी असत है और उसके संतति भी असत है अनाधिकार से चलता रहे जन्म मृत्यु के चक्र और उसके कारण जो दुख की भोगना ये भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है एक बार स्वरूप की ज्ञान हो जाए तो अपने आप ही लगेगा अरे कहाँ पे ये हो रहा कैसे होना संभव है आत्मा में तो कुछ होना संभव ही नहीं है अच्छा इसलिए असत्य मस्या शपथ है दृश्यवाद जैसा स्वप्न काल में वस्तु दिखाई पड़ते हैं सात्मिक वस्तु को देख कर हम सुख दुख भी होते हैं परंतु उठ करके हमको पता लग जाता है कि अरे जो स्वप्न में वस्तु देखा हुआ था वो कुछ भी परमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है इसलिए हमारे मांडव को कार्य का कार्य बोलते हैं अनादि माया सुप्त जला जीव प्रबुद्ध थे अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्ध थे तथा ये अनादि माया निद्रा में सोया हुआ जीव जो है माइक वस्तु के सत्य मान करके स्वप्न में देखा हुआ वस्तु को वो सत्य मान करके उसी में घूमता रहता है माया निद्रा में सोया हुआ हूँ और इसीलिए इसमें कोई पारमार्थिक सत्य नहीं निद्रा में देखा हुए स्वप्न के समान है परंतु ये समझ में नहीं आता क्योंकि मैं जागना नहीं चाहता हूँ स्वप्न देखना ही अच्छा लग रहा है स्वप्न देखना अच्छा लग रहा है क्योंकि स्वप्निक भोग लग रहा है यही हमारे जीवन के लक्ष्य है परंतु उससे पीछे अनंत जो है स्वरूप आनंद स्वरूप जो हमारा पारमार्थिक स्वरूप है उसके प्रति दृष्टि जाना अथवा वहां से यहाँ से मुंह को घुमाना ये थोड़ा कठिन पड़ता है लगता है कि हमारा ये सुख छूट जाएगा हमारा ये सुख छूट जाएगा अरे इससे अनंत सुख इससे कई गुण अनंत अधिक सुख जो है आप का स्वरूप भूत होकर हमारा बैठा हुआ है इसको नहीं छोड़े बिना वो समझ में नहीं आता परंतु इसको किए बिना भी उधर समझ में नहीं जाता अतः वर्ण और आश्रम विहित कर्म को भगवान ने निष्काम भाव से करने के लिए बोला ताकि अंतकरण शुद्ध हो जाए परंतु तो निष्काम भाव से हम कर नहीं पाए और सकाम भाव से करने से हमारा पुण्य हुआ पुण्य धर्म भी धर्म आचरण करने से पूर्ण होता है और उससे जो है पुण्य से हमको सुख प्राप्त होता है वही परिच्छिन्न सुख को ही हम सुख मान करके उसी को पकड़ के रखते हैं शास्त्र बोलते इस काम को तुमको तो अंतकरण शुद्धि के लिए दिया था तुमने उसी में क्यों फंसा ये हटाओ यहाँ से ना तुम मनुष्य हो ना ब्राह्मण हो ना धर्म आचरण तुम्हारे अंदर है अगले श्लोक में बोलेंगे इसके ये सब तुम्हारा नहीं है ये तो शरीर का धर्म है तुम इससे परिणित शुद्ध बुद्ध मुक्त अनंत आनंद स्वरूप हो इसलिए इसके साथ तादात्म करना जो है ये एक अज्ञा के कार्य है इसको छोड़ करके बस इसके शास्त्र का ही उपयोगिता है बार बार अपने स्वरूप का चिंतन उपदेश शास्त्र में इसी को बार बार अपने स्वरूप के चिंतन इसके लिए कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं कोई खर्चा नहीं कुछ नहीं बस चुप बैठ करके कहीं भी अथवा जो भी कुछ काम है उस काम करते हुए मन ही मन सोचना है कि शरीर अपनी रक्षा के लिए कुछ काम की आवश्यकता करते हैं परंतु वास्तविक न मैं शरीर न शरीर का कोई धर्म के साथ मेरा कोई संबंध है महत्व तो आश्रम का पूर्ण व्यापक हो चले क्योंकि इसमें कोई पारमार्थिक सत्य तो नहीं है कि परंतु अपारमार्थिक सत्य में अंदर ही नहीं था एक पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं तो उस पारमार्थिक सत्य वस्तु हमको समझ में नहीं आता इसलिए इसकी उपयोगिता है इसलिए इसकी उपयोगिता इसलिए इसकी बिल्कुल अनुपयोगिता ये नहीं बोल रहे परंतु इसी के माध्यम बना करके पारमार्थिक सत्य को समझना है और इसको इसमें सत्य बुद्धि अथवा आत्मबुद्धि को छोड़ना है क्योंकि या इस शरीर के द्वारा जो भी कुछ व्यवहार होता है जिस अपनों में हमने नया शरीर बना लिया वहां पे अपना दोस्त मित्र सब बना लिया सुख दुख की सामग्री भी इकट्ठा कर ली और बना करके हम भुगते भी रहते हैं इसलिए हमारे वेदांत मुख्य मतलब मांडव कारिका में बोलते हैं कि बीमा तो मिथ्या विवादास्पद जगत मिथ्या क्यों दृश्यत्वात जो दिखाई देता है वो मिथ्या ये बहुत बड़ा एक झटका लगता है मन में हम अपने आंख से देखा और बोलते हैं मिथ्या है हाँ जो तुम अपनी आंख से देख रहे हो वो आंख भी कोई सत्य वस्तु नहीं है वो तो एक व्यवहारिक प्रमाण परमात्मा के लिए व्यवहारिक के लिए भगवान ने दिया हुआ है इसलिए आंख से देखा हुआ वस्तु में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है आंख से देखा हुआ वस्तु में व्यवहारिक तो प्रातिभाषिक सत्यत्व जैसे स्वप्न काल में वस्तु को हम देखते हैं बिल्कुल सत्य ही जैसा लगता है व्यवहार भी करते हैं सुख दुख भी होते हैं परंतु वहां पे ना इंद्रियों कोई सत्य वस्तु है सपनी और ना उस इंद्रियों को तरह देखा जाए जो जो वस्तु भी कोई सत्य वस्तु है जैसा स्वप्न में ऐसा ही जागृत इतना ही है जागृत सपना थोड़ा लंबा होता है और स्वप्न थोड़ा छोटा होता है परंतु है तो वही वस्तु धर्म में कोई भिन्नता नहीं है क्योंकि हमेशा अनित वस्तु ही दिखाई देता है मिथ्या वस्तु ही दिखाई देता है ये अभिप्राय से बोल रहे हैं असत्व हेतु तो संतति वो शरीर इंद्र मन बुद्धि भी असत्य है और उसकी संतति उससे जो दिखाई पड़ता है कि लगातार अनाधिकाल से शरीर इंद्र मन बुद्धि के द्वारा चलता रहा है इससे कैसे पार है जो लगता है ये दोनों ही सत्य नहीं है अच्छा शपथ ही दृश्य ये जो स्वप्न में दिखाई दे रहा वस्तु के समान है इसलिए इसके साथ तादात्मक को शास्त्र बार बार बोल रहे हैं शुरू में समझ में नहीं आ रहा अनुभव में नहीं आ रहा उसी को सत्य लग रहा है परंतु शास्त्र बोल रहे हैं ठीक तो इसको मान करके अपने स्वरूप चिंतन करते ही क्या होता है कि जैसे हम उसको चिंतन धीरे धीरे धीरे धीरे ऊपर में प्रातिभाषिक जो आवरण था वो हट जाता है यही मेरा पारंपरिक सत्य वस्तु है चिंतन के फलस्वरूप अपने आप करके आता है इसी को समझाते हुए ये नहीं है जो बोला ना असत्य है तो उसी को समझाने के लिए आज अगला श्लोक को बोलते हैं इदम तो सत्यम मम नास्ति विक्रिया विकार हेतु नहीं मे द्वयत्वता न पुण्य पापे न च मोक्ष बंधने न चास्ति वर्णाश्रम वर्णाश्रमता अशरीरता इदन्तु मम नास्ति विक्रिया विक्रिया मे न पुण्यपापे न च मोक्षबन्धने न च अस्ति शरीरतः देखिए ये जो है वेदांतिक मुख्य सिद्धांत बोला इदंतु ते सत्यम यही पारमार्थिक सत्य है परंतु यही तो पारमार्थिक मम नास्ति विक्रिया सारा विक्रिया शरीर में है मुझ में कोई भी विक्रिया नहीं है मौनास्ति विक्रिया क्यों क्योंकि विकार हेतु नहीं में क्योंकि विकार का हेतु जो शरीर इंद्र मन बुद्धि जहाँ विकार होता है वो मेरा है ही नहीं क्योंकि मैं तो एक भेद रहित तत्व हूँ सजातीय बीजातीय सगत भेद से रहित एक भेद रहित तत्व होने के कारण विकार और विकार के हेतु मुझ में है नहीं विकार तो दूसरे से होता है जब दूसरा है नहीं तो विकार कहाँ से होगा एक शुद्ध में ही विद्यमान माने दूसरा कोई वस्तु है नहीं तो कहाँ से विकार होगा इसलिए इदम तो सत्यम ममनस्थ विक्रिया यही पारमार्थिक सत्य वस्तु है मेरा मेरा कोई विक्रिया नहीं है मेरे अंदर विक्रिया है तो क्योंकि विक्रिया जहाँ पे होता है तो उसके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है उत्कल्पना है इसलिए विक्रिया हेतु नहीं में अद्वैत तो विक्रिया भी नहीं है विक्रिया के हेतु भी नहीं है क्योंकि मैं एक भेद रहित असंग पूर्ण व्यापक तत्व हूँ केवल इतना ही नहीं ये जो हम लोग सोचते हैं पुण्य पाप न पुण्य पापे ये द्वंद्व समास है इधर इधर उधर दंड समास मुझ मुझको पाप पुण्य से साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि से कोई कर्म संपादन होता है उसी से पुण्य और पाप शास्त्र भीत कर्म करते हैं तो पुण्य मानते हैं शास्त्र निषिद्ध कर्म करते हैं तो पाप होता है नहीं करने से भी पाप होता है परंतु उसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं जिस समय एक बार आत्मनिष्ठता आ जाए तब तो उस समय और पाप पुण्य का चिंतन नहीं करना चाहिए बस केवल जब जितना संभव हो सके अपने स्वरूप के चिंतन में अपनी व्यापकता असंगता पूर्णता के भाव में बैठे रहे और वो सबसे अच्छा धर्म है एक छोड़ देने से हमारा धर्म चला जाएगा ये नहीं है भगवान श्री कृष्ण नवम अध्याय में बोलता है कि प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम राजविद राजगुह पवित्र पवित्रमिदम उत्तम ये समस्त विद्या में श्रेष्ठ विद्या है और गुह तम तत्व है ये और ये अत्यंत पवित्र है क्योंकि आत्मा सर्वथा असंग है ये मेरा स्वरूप है और प्रत इसको कुछ दिन करने से आप इसको अनुभव करेंगे प्रत्यक्ष अवगम प्रत्याहात में आए आंवला के समान ये अनुभव में आता है और धर्म्यम ये धर्मात अनपेतम ये धर्म नहीं है ये धर्म का अंतिम पा, पादान है धर्म का अंतिम पादन है धर्माचरण करते हुए आए अब क्या है धर्माचरण को छोड़ करके धर्म का जो अभिप्राय था कि जीव अपने स्वरूप को बोध करके संसार बंधन से मुक्त हो जाए ये अंतिम पादान पे पहुंचेगी इसीलिए ये अधर्म नहीं है ये धर्म है और प्रत्यक्ष धर्म सुशुकम कर तुम करना आसान है और फल इसका अव्यय तुम सुचकम फल अव्यय वह मतलब जो जो कुछ कर्म करेंगे उससे जो फल उत्पन्न होगा वो जो है अंतमान होगा अच्छा। कोई व्यक्ति कितना साल तक कितना भी तप कर ले कितना भी जाग जग कुछ भी कर ले उसका सब अंतमान होता है परंतु यदि वो आत्मा को जान ले एक बार तो वही कर्म उसको अनंत फल वाला हो जाता है ये बड़ा विचित्र लगते हैं ये कैसे होगा क्योंकि जाग यज्ञादि कर्म यदि हम आत्मज्ञान प्राप्ति निमित्त के लिए करते हैं तब तो क्या होता है वो हमारे अंतकरण शुद्ध होकर के ज्ञान के लिए सहयोगी बन जाता है और वही जाग यज्ञादि और शस्त्र विहित कर्म को यदि हम अपने कोई अभिष्ट पूर्ति के लिए करते हैं तो परिच्छिन्न फल देकर कोई का नाश हो जाता है इसलिए ये शास्त्र विहित कर्म को यदि करना है तो ऐसा करना है ताकि हमारे अंदर मुक्ति की स्प्रिया तीव्र से तीव्रतर होती रहे नहीं तो हम कृपण माने जाएंगे श्रुति आपने जो भी गार्गी ये तो अक्षर अविदित अस्मात लोकात प्रयति से कृपण जो इस और जो इसको जान करके जाते हैं सब ब्राह्मण कोई प्रकृत ब्राह्मण तो है जो अपने स्वरूप को जान करके संसार बंधन से मुक्त हो जाए क्योंकि परम पुरुषार्थ को दिखाना परम पुरुषार्थ कैसे जीव प्राप्त कर पाए उसके लिए ही शास्त्र है उसके लिए शास्त्र है परंतु परम पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए जो है वो शास्त्रीय कर्म किए बिना धर्माचरण किए बिना होना संभव नहीं है परंतु ऐसे माया की महिमा है कोई व्यक्ति तो धर्म आचरण करना ही नहीं चाहता अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं और धर्म आचरण करते हैं तो धर्म से पुण्य होता है पुण्य से सुख होता है बस उसी परिच्छिन्न सुख में मन फंसा रहता है अनंत अभी अपने इतस्येव आनंद अन्नानि भूतानि मात्रानि परिशुद्धि बोलते हैं आपके अंदर जो पूर्णता की आनंद है उसी का एक टुकड़ा आनंद लेकर के सब जीव जो संसार में घूमते रहते हैं संसार में घूमते रहता है इसको समझ करके इस परिच्छिन्न आनंद से ऊपर उठो और व्यापक पूर्ण आनंद में स्थित हो जाओ ये जो वेदांत तो सुनने का इच्छा अथवा रुचि हो रहा है यही प्रमाण है कि पहले जो है ये जाग जग्ञ कर्म निष्काम कर्म हमने किया उसके फल स्वरूप ही आप वृद्धांत सुनने की इच्छा हो रहा है आप जो उसी में निष्ठा को बनाने के लिए बाकी सर्वधर्मान परित्यज बाकी सारा धर्म को छोड़ करके केवल एक आत्मधर्म को निभाना है तब आत्मलोक में सिद्ध हो जाएंगे मेरा इसको हम हमेशा की बात को ध्यान रखना न पुण्य पापे न चमोक्ष बंधन है मेरा ना पुण्य है ना पाप है ना मुक्ति है ना बंधन है वो तो केवल अज्ञान से हमने कल्पना किया था न च वर्ण क्षमता न वर्ण है न वर्ण धर्म है न अष्टम धर्म है अकस्मात एक ही जैसे दे दिया अशरीर क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ जब मैं शरीर नहीं तो पुण्य पाप के साथ संबंध नहीं है जब मैं शरीर नहीं हूँ तो मेरे पक्ष बंधु मोक्षण भी नहीं है और जब मैं शरीर नहीं हूँ तो मेरे को वर्ण अष्टम धर्म दोनों नहीं है इस प्रकार से बार बार बार बार विचार करने से ये जो सत्य पारमार्थिक सत्य वस्तु है वो विद्यमान है हमारे अंदर वो अभिव्यक्त हो जाता है क्योंकि अनभिव्यक्ति के नहीं है अभी भी अभिव्यक्ति है परंतु क्या होता है सांसारिक चिंतन के साथ मिल करके वो अभिव्यक्त हो रहा है वो वो चिंतन जैसे छूट जाएगा तुरंत स्वयं प्रकाश अपने आप प्रकाशित है जिस प्रकार घरे में पानी है पानी हिल डुल रहा है सूर्य के प्रतिबिंब वहां पे दिखाई दे रहा है परंतु हिल हिलते डुलते दिखाई देने के कारण स्पष्ट समझ में नहीं आता इसी प्रकार मन में वासनाओं के साथ मिलकर के आत्मा का प्रकाश ही दिखाई दे रहा है परंतु आत्मा का स्पष्ट प्रकाश इसके समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वासना के साथ मिला होने के कारण क्या है शरीर की तरफ झुक जाता है प्रकाश परंतु जैसे ही वासना छुप जाती है तो स्वयं प्रकाश अपूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाते हैं उस समय ना मुझे पुण्य है ना पाप है और ना मुझे बंध है ना मोक्ष है पहली बोल कर गया था शरीर से इंद्रिय मन बुद्धि का जो सुख दुख है उसके साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं हो तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का मेरा कहां से आएगा तो सुख दुख भूख प्यार जन्म मृत्यु पुण्य पाबंध मोक्ष जिसको हमने अपने जीवन की एक बहुत मूल्य मान रखा इस किसी के साथ हमारा संबंध नहीं है क्योंकि मैं शरीर नहीं और शरीर था तो मैं क्या तब बोलेंगे आगे तो बोल करके आया उसको आगे बोल रहे हैं कि काल से जो है एक कर्म और कर्म के फल के फल स्वरूप हम घूमते रहते हैं परंतु वो शरीर इंद्र मन बुद्धि में सीमित हमारे साथ नहीं है वो तो निर्गुण तो ना कर्म मे फलम अनादित निर्गुणतो न कर्म मे फलम च तस्मात् परम अहम अद्वय यथा नभ सर्वगतम न लिप्यते तथा ही अहम देहोगत अपि सूक्ष्मत अनादित तो न कर्म मेखणं च तस्मात् परमहमद्दयः यथा नभ न लिप्यते तथा हि अहं देहगतोऽपि सूक्ष्मतः ये जो है भगवत गीता के एक श्लोक आते हैं आप लोग जानते हैं में अध्याय यथा सर्वगतम सूक्ष्मात् तथात्मा भी ये जो है उसी को यहाँ पे देखिए कितना सरल सबने भगवान श्री कृष्ण बोल दिया जैसे जो है समस्त समस्त शरीर में व्याप्त होते हुए भी आकाश किसी के साथ ले मान नहीं आए इसी प्रकार हरेक देह के अंदर अनुसूत रहते हुए भी आत्मा किसी के साथ लेपायमान नहीं है उसके धर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं है इसलिए अनादि तक निर्गुण तक परमात्मा है हम अभ्यम शरीर कौन तो ना करते वो जो है वो अनादि है वो निर्गुण है इसीलिए उसका किसी के साथ कोई कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है कोई गुण भी क्रिया की कोई संबंध नहीं है इसका जाति गुण क्रिया संबंध कुछ भी नहीं है आत्मा में इसको यहाँ पे बोलते हैं कि अनादित निर्गुणत मैं अनादि हूं मैं गुण से रहित हूं मेरा इन है इसलिए एंडलेस भी है मेरा अनादि है तो मेरा अंत भी नहीं है और मेरा कोई गुण नहीं है तो मेरा कोई दोष भी नहीं न कर्म में फल न कर्म है न कर्म का फल के साथ मेरा कोई संबंध है अच्छा। तस्मात तो क्योंकि कर्म कर्म से फल शरीर शरीर से कर्म कर्म से शरीर कर्म शरीर शरीर कर्म इस प्रकार से अनाधिकाल से शरीर प्राप्त किया कर्म किया कर्म फल होगा तो दूसरा शरीर प्राप्त किया फिर शरीर से कर्म हो रहा कर्म से ये जो चक्र हमको दिखाई दे रहा है ये चक्र के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है अज्ञान से मैंने इसमें मान्यता दे रखा इसलिए हमें यहाँ पे संसार चक्र में घूमना पड़ रहा है अनादिता अनादि होने के कारण अर्थात क्योंकि मेरा कोई आदि नहीं है इसलिए मेरा कोई अंत भी नहीं है निर्गुणता मेरा कोई गुण भी नहीं है दोष भी नहीं न कर्म में फलम च ना मेरा कोई कर्म है ना कोई मेरे कर्म का फल है न मैं कर्म फलम च मेरा कर्म भी नहीं है फल भी नहीं है तस्मात परम अहम मैं इससे श्रेष्ठ हूँ और इससे पीछे हूँ मैं भेद रहित एक व्यापक तत्व हूँ ये कैसे है तो मैं तो सारा शरीर में विद्यमान सभी जगह मैं मैं करके बोलता हूँ हाँ शरीर का अंदर से दिखाई पड़ता हूँ निषेध नहीं है तो उसको बोलते हैं जैसे यथा नव सर्वगतम न लिपते जैसे आकाश सभी के अंदर रहते हुए भी किसी के द्वारा लेपायमान नहीं होता किसी के साथ संबंधित नहीं होता तथा ही अहम देहगत सूक्ष्मता ठीक उसी प्रकार मैं भी शरीर में रहते हुए भी अत्यंत तो सूक्ष्म होने के कारण इसके साथ कुछ भी आकाश से भी सूक्ष्म होने के कारण वहां पे आया था यथा सर्वगतम सूक्ष्म तेरहवें अध्याय के इकतीसवा श्लोक की बत्तीसवा श्लोक होगा यथा सर्वगतम सूक्ष्मात आकाश न परिपते सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण समस्त शरीर में रहते हुए भी शरीर के धर्म के साथ पायमान नहीं होता कहीं तो बारिश हो कहीं तो आग लग गया हो आकाश उसके तरह पायमान नहीं होता ये हम सभी का सभी के प्रत्यक्ष अनुभव है सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अनादित अनादि होने के कारण निर्गुण होने के कारण न कर्म न में फल मुझे न कर्म है न कर्म का फल है फल मतलब शरीर अथवा शरीर संबंधी सुख दुख तस्मात परम अहमद क्यों मैं उससे पीछे परम श्रेष्ठ तत्व भेद रहित हूँ ऐसा कैसे होगा ऐसा तो कोई दृष्टांत तो बताइए बताना दृष्टांत है देखो जैसे आकाश सर्वगतम न लिप्त हर जगह पे रहते हुए भी किसी क्रिया के साथ ले पायमान नहीं होता है तथा ही अहम देहगत अपनी सूक्ष्मता समस्त शरीर में रहते हुए भी देहगत अपनी अहम न लिप्यते न लिप्यते का न इधर भी होगा यथा सर्वगतम नभ न लिप्यते तथा देहगत अपनी अहम न देहधर्म में लिप्यते अस्मात् सूक्ष्मता निर्गुणता निर्गुणत्वाच क्योंकि मैं निर्गुण हूँ सूक्ष्म हूँ शरीर धर्म के साथ मेरा कोई संबंध होना संभव ही नहीं है इस प्रकार से बार बार ये विचार शरीर को रहते हुए ये विचार करते हुए अपने स्वरूप का निश्चय करना है इसमें देखिए कि बाकी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है कहीं जाना कहीं आना कहीं कुछ करना कोई नहाना कोई धोना कुछ नहीं बस चुप मन कहीं भी हो बस इसी चिंतन में अपनी असंगता व्यापकता अपने जो भी हमारे मन में आता है जिस प्रकार से अपनी असंगता ठीक है शरीर के लिए भोजन आदि की आवश्यकता है तदनिमित्त कुछ व्यवस्था करना पड़ता है वो तो भगवान करते हैं उसको लेकर के जैसा जैसा है उसी प्रकार से उसको मान्यता लेकर के कुछ विशेष उसके प्रति कुछ आग्रह नहीं रखते हुए शरीर अब आया अपने समय से जाएगा भी इसको लेकर के कोई चिंता भी नहीं रखना हाँ बीमार पड़े तो उसके लिए क्योंकि तब बीमार आदमी के लिए और मतलब साधन भी नहीं होता चिंतन भी ठीक से नहीं होता बीमारी की चिंतन होती रहती है क्योंकि हम तो शरीर मान लिया इसलिए जहां तक हो सके उसका जो व्यवस्था है उसको रख करके केवल अपने स्वरूप के चिंतन में अपने जो है भगवत चिंतन ही है स्वरूप चिंतन भगवत चिंतन यही धर्म है इसी में लगा है बार बार की मेरे साथ इस संसार की किसी वस्तु का कोई लेप नहीं है जब इस शरीर के साथ ही नहीं है तो शरीर के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति का तो कहाँ से लेप होगा शरीर के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति का भी कहीं से लेप नहीं होता मैं तो सर्वथा असंग हूँ सभी का ये नहीं कि मैं कोई मुझसे अलग है इस एकात्म भाव को समझना बहुत जरूरी है अच्छा भी है आनंददायक भी है और परंतु एकात्म भाव करके हम संबंध से कुछ उम्मीद करने लगते हैं वही हमारे दुख का कारण हो जाता है इसलिए संबंध से किसी भी साथ कोई संबंध ही नहीं है तो उम्मीद ही नहीं होगा कुछ संबंध जैसे ही मन से मान लेंगे सब भी कुछ उम्मीदें और मन में आ जाता है वही हमारे सब संसार बंधन का हेतु बन जाता है तो इसलिए उसको हटाने के लिए ना मैं शरीर हूँ ना शरीर से संबंध रखने वाले किसी के साथ संबंधित हूँ मैं तो सर्वथा असंग व्यापक हूँ संसारिक क्रिया शरीर से हो रहा है देखते रहे संसारिक क्रिया शरीर से होता है आत्मा में कुछ भी क्रिया नहीं है मुझमें ना पुण्य है ना पाप है ना मोक्ष है ना बंधन है ना वर्ण है ना आश्रम है न वर्ण है न आश्रम है न पुण्य है न पाप है न बंधन है न मोक्ष है इस प्रकार से बार बार विचार करने से क्या होता है जो हमारा स्वरूप जो अंदर छुपा हुआ है मतलब अज्ञान से ढका हुआ दिखाई दे रहा है वो अवर आवरण हट जाता है वो आवरण यही तो आवरण था कि मैं शरीर हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ ये मेरा मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्र यही हमारा आवरण था ये आवरण हट जाए तो आपकी असंगता पूर्णता व्यापकता समझ में आ जाता है इसी समझाते हुए आगे देखिए और बोलते हैं कि न नभो सब जैसा आकाश हर जगह पे रहते हुए भी आकाश संसार के धर्म से ले पायमान नहीं होता इसी प्रकार मेरा भी किसी के साथ संबंध नहीं है शरीर का तो कोई धर्म के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है क्योंकि मैं अत्यंत तो सूक्ष्म असंग व्यापक हूँ आगे और बोल रहे थे सदा चूतेषु सम सम अहम ईश्वर चरा चराभ्यम परमो ही अथो उत्तम परात्मतः तत्परात्मतत्तश्च तथद्वयवपिषन् विपर्ययेन अभिमतस्तु अविद्वया सदा च भूतेषु सम अहम अस्मि सम अहम ईश्वर चराक्षराभ्यम परम हि अथो उत्तम परात्म तथा द्वयोऽपि सन् विपर्ययेन अभिमतस्तु अविद्वया मैं ये होते हुए भी उल्टा बुद्धि क्यों होती है क्योंकि मैं शरीर हूँ मैं वर्ण आश्रम वर्ण वर्ण मैं शरीर हूँ मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ मैं प्रोफेसर मैं लेक्चर ये सब ये बुद्धि क्यों होते हैं अविद्या अज्ञान से अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही हमें ऐसा प्रती मात्र होती है ये इसे देख ये ज्ञान हुआ ज्ञान ये सब विचार करने से तो हम सभी के अंदर अनुच्छुत है कोई भी हमारे अंश छोड़ करके नहीं है सभी के साथ एक होने के कारण क्या होता है सदा च भूतेशु समय हम ईश्वर समस्त को भूत के प्रति मैं समान हूँ समस्त भूत के प्रति मैं समान हूँ किसी से कुछ कोई राग देश कोई व्यवहार ये जो है क्योंकि समस्त भूत अपने दृष्टि से जाने पर भी व्यवहारिक दृष्टि से रहता है और समस्त भूतों के प्रति तो सम्मान इसलिए हूँ क्योंकि सभी के अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है आत्मा तो ही है चेतन आता तो ही है तो समस्त शरीर को जड़ जड़ात्मक अलग अलग शरीर में चेतन एक ही रहने के कारण इसलिए मैं ही वह शुद्ध चेतन हूँ सभी में समान रूप से विद्यमान और मैं क्या हूँ परंतु क्षर अक्षर इन दोनों से परे हूँ मैं उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम हूँ मैं उसको बोलते हैं क्योंकि भी भगवत गीता की पंद्रहवा जसमात क्षरमती तो हम अक्षरादपि च उत्तम लोके वेदी च प्रतीत पुरुषोत्तम क्योंकि मैं जो है क्षर मतलब हिरण्य गर्भ से लेकर के जितने जीव खोटि में है वो सब धीरे धीरे क्षय होता जाता है इसलिए वो क्षर जीव है और अक्षर हो गया ईश्वर जो है जे जे ईश्वर बोलते हैं आकाश बोलते हैं तो अक्षर शब्द के ईश्वर को लेना है और मैं जो है ये क्षर अक्षर दोनों से परे हूँ तस्मात् शर्मती तो अक्षराद अपनी च उत्तम अतोअस्मी लोके भेदे च प्रथित पुरुषोत्तम इसलिए लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ ये पुरुषोत्तम तत्व मैं हूँ मैं पारमार्थिक वही मेरे पारमार्थिक स्वरूप है मैं चर्चित भी पढ़े और अक्षर से भी पढ़े इसलिए सदा स्वभूतेषु सम अहम ईश्वर समस्त भूतों में मैं समान रूप से विद्यमान हूँ और भूत को संचालन करने की जिम्मेदारी सर पे मत ले लेना उसकी सत्ता स्फूर्ति प्रदान एक शुद्ध आत्मा रहने के कारण समस्त भूत भूतों की सत्ता स्फूर्ति प्राप्त होता है और समस्त भूत को दो कट में विभाजन कर दिया एक कोटि की भूत है जिसका क्षय होता जा रहा है वो शरीर का क्षय होता है आत्मा का तो नहीं होता और अक्षर हो गया ईश्वर माया उपद दिखाई पड़ता है वो ये दोनों से रहित हूं मैं क्षर अक्षर से परे मैं तो पुरुषोत्तम तत्व क्षर भी नहीं हूँ अक्षर भी नहीं हूँ दोनों से पीछे जहाँ जहाँ पे कोई शब्द प्रयोग नहीं होता जहाँ पे कोई जाति गुण क्रिया संबंध नहीं है ये मेरा पारमार्थिक स्वरूप इसलिए स्थिति में पहुंचने के बाद आकाश जैसा समस्त शरीर में विद्यमान रहते हुए भी किसी भी शरीर के धर्म का द्वारा ले पाए मन नहीं होता इसी प्रकार मैं भी समस्त शरीर में रहते हुए भी आकाश से भी सूक्ष्म हूं मैं आकाश का भी कारण है जो कारण सबका पीछे जो कारण है कार्य जो स्थूल होता है कारण सूक्ष्म होता है आकाश से भी सूक्ष्म होगा इसलिए जब आकाश का ही किसी के साथ कोई संबंध नहीं है तो मेरा तो किसी के साथ कोई संबंध होना संभव ही नहीं है और परंतु किसी भी भूत से मैं भिन्न भी नहीं हूँ सभी भूतों में अनुसूत होकर के विद्यमान हूँ परंतु मैं भूतों की और भूत के धर्म से भिन्न भी हूँ मैं चर और अक्षर दोनों से मैं अलग भी हूँ और इसलिए परमात्म तत्व तथा अद्वय में ही वो जो श्रेष्ठ परम आत्म तो असंग अकर्त ये परम तत्व है वही मैं हूँ तथा अद्वय भेद रहित तो मैं होते हुए भी इस प्रकार मैं भेद रहित असंग व्यापक होते हुए भी विपर्ययन अभिमत तो उल्टा करके हमने अपने को समझ लिया था क्यों अविद्या अभिमतस्तु अविद्या ये जो जीव अपने को ऐसा मानते हैं यही अज्ञान की कार्य इतना अभी तक ये अज्ञान के कार्य से मैंने अपने को शरीर मान रहा था शरीर धर्म का अपना मान रहा था उसी को लेकर के परेशान हो रहा था परंतु शास्त्र ने और गुरु ने आपके अनुभव में भी आता है कि यही हमारा पारमार्थिक सत्य यही परम तत्व है नहीं तो सभी के साथ जो मानविकता जो होता है सभी के साथ एक ही रूप में अभिव्यक्त होता है क्यों यदि आत्मा एक नहीं होता ना बार बार बार बार अब पशु वृत्ति में जब तक शरीर के साथ तादात्मा रहेगा तो पशु वृत्ति है तब तक ये नहीं परंतु सभी के प्रति जो हमारी एक प्रेम भाव आशक्ति का बात है वो यही कारण है कि आत्मा सभी में एक ही है परंतु हम समझ नहीं पाते तो हमको लगता मन जहाँ पे आशक्त का वही मेरा स्वरूप है परंतु ये वही मेरा है परंतु वो मेरा नहीं है मैं ही सब रूप हूँ मेरा करके संसार में कुछ नहीं है मैं ही हूँ और मैं ही सब रूप हूँ इस पर इसलिए शरीर तक भी मेरा नहीं है क्योंकि ये जो है प्रयोजन में तो हमारा साथ नहीं देता बस केवल इतना ही है परेशानी करने के लिए आके खड़ा हो जाता है मेरा इसलिए ये शरीर जब मेरा नहीं है तो शरीर के साथ संबंध रखने वाले वस्तु के साथ क्या संबंध होगा मेरा इसलिए परमार्थ तत्व तथा अद्वय भी मैं भेद रहित होते हुए भी विपर्जय अभिमता उल्टा करके भेद भेद दिखना वो अलग मैं अलग तुम अलग और वो क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहा है ये जो पाप है विपर्जय अभिमता उल्टा करके समझना क्यों हुआ ये अभिद्वया इसे तू लगाए बीच परंतु ऐसा होते हुए भी मैं असंग पूर्ण व्यापक होते हुए भी परिच्छिन्न रूप में जो प्रतीति होते हैं वो अज्ञान से होता है इसीलिए शास्त्र बार बार इस अज्ञान को नाश कैसे होगा केवल ज्ञान से होगा किसके ज्ञान से होगा अरे जिसकी अज्ञान से बंधन है उसी के और इसीलिए इसी को ही निमित्त करके इसी इसी को एक हेतु दिया उपनिषद में ईश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए ईश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए मतलब अपने शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए इसी को नहीं समझने के ये ईश्वर नहीं है ये स्वरूप नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हो क्यों नहीं कह सकते हो क्योंकि ऐसा कोई स्वरूप तो पता ही नहीं लगता है ही नहीं बोलते नहीं कह सकते इसको ये संसार बंधन लग रहा है ये तो लग रहा है कि नहीं तो ये जो संसार बंधन लग रहा है क्यों जिसकी जिसके अज्ञान के कारण संसार के प्रति दर्शन उसके अस्तित्व नहीं है कैसे कह सकते हो जिस वस्तु की अज्ञान के कारण ये संसार और बंधन में प्रतीत होता है तो दुख संसार दुख तो ऐसा लगता है जिसके अज्ञान के कारण वो वस्तु ने जिसके ज्ञान से शास्त्र देखा है किसी के ज्ञान से तुम्हारा संसार बंधन से मुक्त है वो वस्तु नहीं है ये भी नहीं है वो वस्तु ऐसा ही है जैसा शास्त्र ने दिखाया इसलिए ये जो परिच्छिता दिखाई दे रहा है ये केवल विपर्जय है ये केवल प्रांति से प्रकृति होते हैं परंतु स्वरूप होता क्योंकि यदि वो वस्तु ऐसी नहीं होती तो संसार बंधन से कभी मुक्ति नहीं हो पाता एक और यदि वो वस्तु नहीं होता वो वस्तु यदि ऐसी नहीं होती तब हम अपने मुक्त नहीं होता और यदि वस्तु ही नहीं होता तब संसार ही नहीं होता हम्म। इसलिए भगवान है आत्मा है और वो भगवान आत्मा सर्वदा असंभव व्यापक है पूर्ण है ये दोनों चीज इस संसार को देख करके इसका अस्तित्व और इसके स्वरूप को भी निश्चय कर लेना चाहिए तब जाकर के संसार बंधन से स्वरूप का तो कोई व्यक्ति ईश्वर को मानते ही नहीं है अरे मूर्खानंद ईश्वर को नहीं मानोगे तो संसार कैसे चलेगा ये सारा सृष्टि जो नियमबद्ध रूप में चल रहा है कर्म और कर्म फल जो समस्त रूप में मिल रहा है सब ईश्वर के कारण हो पाता है ठीक है वहां भी नहीं जाता है किंतु संसार बंधन लग रहा है अथवा आनंद लग रहा है यदि बंधन लग रहा है तो क्यों लग रहा है जब तक जब तक आनंद लग रहा तब तो छूटने का कोई इच्छा ही नहीं होता तब उसी को भोगते रहे दुर्भोग भोगते रहे परंतु जब संसार बंधन जैसा लग रहा तब क्यों लग रहा है किस कारण से तो शास्त्र दिखाता है कि तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते तो जिसको नहीं जानने के कारण संसार बंधन जैसा लग रहा है और जिसको जान देने पर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है तो वो वस्तु नहीं है ये हम कैसे कह सकते वस्तु है इसलिए वो वस्तु है और उसका स्वरूप शास्त्र ने देखा ऐसे ही है तब जा करके हम संसार बंधन से मुक्त हो जाता है इसलिए तो विपर जैसे जो हमको दिखाई पड़ता है वो केवल मात्र एक भ्रांति है वो केवल मात्र अविद्या कारण ऐसा प्रतीति होती है तो अविद्या क्या करते हैं तो बोलते हैं अविद्या यही काम करते हैं इसको कल करेंगे नौ नंबर से आज यही तक रखेंगे क्लास में और आठ नंबर तक हाँ उसी लेकर के आप हमारे वैराग्य शतकम में देखिए मन को कैसे पकड़ना है मन को पकड़ नहीं पाएंगे तो हमारा साम नहीं बनेगा मन को पकड़ करके ठीक जगह से उठा के लगाना है कल कहाँ तक किए थे इसको मुहम पर जय तम पर जय रति चंद्रार्थ चूड़ामन तस्मात् বিরমেন্দ্রিয়ার্থ গহনাত আমি ছিলাম না যদিও কালকে শ্যামলিজি বলে দিয়েছেন হ্যাঁ এত বিরমেন্দ্রিয়ার্থ ওইটা হয়েছে এটা বোধহয় সিক্সটি থ্রি হবে एतस्मद्विदमिन्द्रियत्तगहनात् आयासकादाश्रय श्रेयो मार्गम् अशेषदुःखशमन व्यापारदक्षं शनात् सात्म्यभावमुखैः सन्त्यज्य निजां कल्लोललोलां गतिं मा भूय भज भङ्गुरां भवरतिं चेत प्रसीद भूना इसलिए मन यहां से मन को हटाओ क्या करो ये तस्मात विरम ये संसार में जो भटक रहे हो ना इससे वो अपने मन को उठाओ कहा से देहार्थ गहनात आयासकात ये जो शरीर इंद्र मनोबुद्धि संसार घोर जंगल है इस जंगल से जो है और क्यों घोर जंगल है इसमें सबसे बड़ी जंगल थे तो मन के अलग अलग प्रकार के विचार उसे जंगल में बस जाते हैं फिर उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि भूख प्यास ये सब जो जंगल में बड़े बड़े मतलब पशुओं की तरह हमको खाने आते हैं आत्मा सर्वत आशंका आए परंतु वो जो है हमको लगता है कि हमको खाने आ रहा है मैं उसी का अधीन हो जाता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि भूख प्यास शोक दुख इसी का अधीन हो जाती है इसलिए मन अब तुम ये नहीं हो यहाँ से मन को उठाओ इसलिए ए तस्माद विरम विंचो माइंड यहाँ से इससे विरत हो जाओ और होकर के कहा से ये जो आया शकात इंद्रिय घाना ये आया दुख देने वाले ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध रूप विषय है इस विषय दिखने से ऊपर उठाओ और क्या करो एक क्षण के लिए भी यदि भगवान में मन लगा पाओगे तब क्या जाएगा श्रेय मार्गम अशेष दुख समान व्यापार दक्षम जो संपूर्ण दुख रूपी जो व्यापार है उस व्यापार को नाश करने में अत्यंत दक्ष है इस श्रेय मार्ग में मन को लगाओ प्रयोग मार्ग में यदि धर्माचरण करते हो वहां से भी मन को हटाओ धर्माचरण नहीं हो रहा है तब तो धर्माचरण मन को लगाओ पर संसार विषय से मन को उठाना ये मुख्य लक्ष्य है श्रेष्ठेव मार्ग अशेष दुख समन व्यापार दक्षम एक मन इस यहाँ से घुमाओ मन को घुमा करके कि समस्त संसार दुख को नाश करने वाले एक शंभु पदम निर्भम पहले आया था हमारे पास एक भगवान के निर्भय पद को आश्रय करो संसार में हर वस्तु कोई ना कोई भय से ग्रसित है हर वस्तु भय से ग्रसित है इसलिए एक शंभु पद जो निर्भय पद है उसको आश्रय करो इसलिए सात्म्य भाव उपही संत्यज्य निज निजाम कल्लोल कल्लोल लोलाम गति उस शंभु के पद के साथ आत्मभाव को ग्रहण करो स्वरूप अनुसंधान में लागो और ये जो तुम्हारे इधर उधर भटकने की एक स्वभाव है वहां से अपने को उसको सम्मक रूप से त्याग दो उसको सम्मक रूप से त्याग दो क्यों मन के बिना भी नहीं होगा और मन जिस स्थिति में उसको उस प्रकार रखने से भी नहीं होगा इसलिए मन को रखने के लिए बोल रहे हैं मन तुम यहाँ से अपने को विद्रो करो भगवान के चरण में मन लगाओ ये जो बाहर की वस्तु की देखना वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है अथवा उसको संतुष्ट करना इसको संतुष्ट करने कि बिल्कुल छुप किसी को संतुष्ट करने के लिए केवल भगवान को संतुष्ट करो संसार में सब काम से आसान हो जाएगा एक बार इधर वृत्ति आ जाता है मन को अगर लगा पाओगे ना तो क्या करो भंगुरा भवरती माँ भूय भज दोबारा विशेष संसार के प्रति जो प्रीति उसको दोबारा उस तरफ मुड़ के देखो ही नहीं बस छोड़ दिया छोड़ दिया जो होगा भगवान की जिम्मत है कुछ नहीं देखना है उसमें भंगुराम भवरतीम माँ भूय भज दोबारा फिर उसको तरफ मोड़ के मत देखो छोड़ दिया तो छोड़ दिया जो हो गया हो गया क्योंकि ये जो है ना हम इसी में बोलते हैं एक बार छोड़ के फिर उधर देखना मतलब क्या होता है ये कुत्ता की तरह व्यक्ति है उल्टी करके खा लेते हैं कुत्ते अपने आप हम लोगों को भी ऐसा ही होता है ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल जो है संसार की क्यों भगवान के नाम में इतना मधुर रस है उसको सेवन करो ये सांसारिक वस्तु को उल्टी करती है वो वस्तु क्यों भी खाने का इच्छा बिल्कुल वहां से चेतो प्रसिद्ध अधुना इसलिए चित्त अभी अभी प्रसन्न होकर के भगवान की भजन करो भगवान की भजन करो परम पुरुषार्थ सिद्धि में मन को लगाओ संसार बहुत हो गया आगे इसी को लेकर के आज दूसरे प्रकार से बोल रहे हैं कि भगवान के चरण को लेकर के बोल रहे थे ना उसी को बोल रहे हैं कि देखो भगवान के चरण को कैसे पकड़ा जाता है मोहम मार जय तम पार जय रती चन्द्रार्धचूरामनो चेतः सर्गतरङ्गिनि तटभूमौ आसङ्गमङ्गीकुरु को वा बीचसु बुद्बुदेषु च लेखा लेखासु च स्त्रीषु च जालाग्रेषु च पन्नगेषु च सुहृत् वर्गेषु च प्रत्ययः मोहं मार्जय तामुपार्जय रतिं चन्द्रार्धचूडामनौ मनो चेत सर्ग तरंगिनी वा बीचिषु बुद्बुदेषु च तरिन् लेखासु च श्रीषु च जालाग्रेषु च पन्नगेषु च सुडित् वर्गेषु च प्रत्यय हे चित्त मन को बार बार समझा रहे देखो चंद्रार्थ मनो जिसके चंद्र की भाग आधा भाग जिसके सर के जटा के ऊपर शोभित हो रहा है उस शिव जी को लेकर के बोलते हैं चंद्रकला जिसकी शिरोभूषण इस महादेव के प्रति रतिम उपार्जय उसके प्रति प्रीति को उपार्जन करो ताम रतिम मनिर्वचन प्रीति महादेव के प्रति उपार्जन करो और मोह मार जयो मोह को धो डालो संसार के प्रति मोह को धो डालो और शिव के प्रति जो है मन को लगाओ तब जाके वो धुल जाएगा और फिर क्या करेंगे आगे बोलते हैं कि स्वर्ग तरंगिनी तट घुमो सूर्य नदी मंदा के जो भगवान शिव जी के जटा से निकली है और स्वर्ग को पवित्र करते हुए नीचे आ रहे इस प्रकार जो गंगा जी के तट पर आशंगम अंगी कुरु बस वहीं पे मन को लगा के रख बस मतलब गंगा तट पे शरीर बिज जाए इस प्रकार से जीवन को अंगीकार करो गंगा तट में पेड़ के नीचे जहां थोड़ा रहने की जगह मिल जाए वहां बैठो शिव जी के चरण में मन लगाओ और जो प्रारब्ध वसन जो भोग करने के लिए शरीर धारण के लिए जो आता है उसी में संतुष्ट होकर के जीवन यापन करो संसार में तो बहुत घूम लिया संसार में बहुत घूम लिया कितना जन्म कितना प्रकार कितने कितने प्रकार से नाचते रहे परंतु अब जो भगवान ने थोड़ा बुद्धि दिए हुए है तो अब उसको उपयोग करो मन ये मोह इस संसार के प्रति मोह को छोड़ो और भगवान शिव के प्रति जो है मन को लगाओ वहां पे जो है वहां के शिव के प्रति मन की प्रीति उत्पन्न हो जाए इस प्रकार से करो वो कब होगा जब शिव जी के ऊपर निर्भर कर जियोगे तब भगवान के प्रति उत्पन्न गंगा तट में बैठो असंग होकर के बैठो प्रारब्ध वशा जो भी मिलता है उसी के ऊपर निर्भर करके बस भगवान चिंतन में मन लगाओ बताओ ये जो छोटा छोटा बुद्ध की तरह फेल तरंग बिसी बुद्धबुद अथवा आकाश में चार देखा विद्युत चमक की तरह जो थोड़ा बहुत सुख अथवा सुख देने वाली वस्तु अथवा जो कुछ देर संग देने वाले जो रिश्तेदार होते हैं वहां पे मन लगाने से क्या लाभ है जाला सुपर्ण क्या भरोसा है वो तुम्हारे लिए इंतजार करेगा कि नहीं करेगा तुम्हारी परेशानी में काम आएगा कि नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है पर भगवान हमेशा काम आता है हमेशा काम देगा हमेशा साथ में रहेगा परंतु संसार के कोई वस्तु तुम्हारा साथ रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है इसलिए इसमें मन लगाने से क्या लाभ इसमें मन लगाने से क्या लाभ है को बुद्ध बुदेशु जब तरी लेखा जो श्री हो मतलब ये जो आपका धन दौलत आदि है ना ये तो कभी रहता है कभी नहीं रहता है फिर समुद्र में फिर तरंग बीच सम उद्भूत हो रहा है जा रहे है कब रहा है कब जाएगा कोई निश्चय नहीं है जालाग्रेशु पन्नगेशु सुहृद वर्गेशु और जो जैसा सर्प की जहरीला अथवा आंख के अगला भाग हाथ लगा हुआ तो जलेगा इसी प्रकार सुहृद वर्ग जो मित्रता दिखा करके हमारा रिश्तेदार बन के आ रहा है सब ऐसा ही अंतिम समय तक ये साथ देगा कि नहीं देगा हमारे काम में आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है परंतु भगवान की गारंटी है कि हर अवस्था में भगवान हमारे साथ है और रहेगा है और रहेगा इसलिए मन भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न करो संसार के प्रति मोह को धो डालो इसलिए मोहम मार जय हे चेता मोहम मार्ग चित्त प्रतिपादिक है वैसे तो चित्त ये चित्त संसार के प्रति मोह को थोड़ा और क्या करो चंद्रार्थ चोरा मनो रति ताम रति मुपार जो जो मोह संसार को तुझे उसको शुद्ध करके भगवान के तरी घुमा दो भगवान के प्रति घुमा दो तो भगवान के प्रति घुमाए घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है भगवत निर्भरता आ रहा है कि नहीं कैसे पता लगेगा तो सब सोच करके भागो गंगा तट नहीं मारे स्वर्ग रंजनी तट हुआ आसंगम अंगी कुरु ये जो है समस्त संसार को पवित्र करने वाले गंगा तट में जाकर के वास वहीं पे बैठो उसी के प्रति अशक्ति का उसी पे बैठो शांति भगवान के प्रति भागीरथी के तट पे तीर्थ में वास करने का इच्छा करो तो भगवान व्यवस्था जरूर करेंगे ये जो संसार है श्री मतलब लक्ष्मी जो धन दौलत आदि वो तो आपका लक्ष्मी तरंग भंग चपला वो तो एक क्षण उत्पन्न होता है नाश हो जाता है कब रहेगा कोई गारंटी नहीं और जो है जो रिश्तेदार होते हैं वो तो ज्वालाग्रेशु पर नगिश पर उनके जीवन में कुछ ऐसे घटना हुआ होगा वो सर्प की तरह जहरीला अथवा आग की ज्वाला ज्वाला जैसा था वैसा ही मतलब हाथ लगाने से ही जलेगा अथवा नहीं भी हाथ लगा मौका मिलने से काटेगा सर को इस प्रकार जो है शोहित वर्ग के जो आपके सामने शोहित वर्ग के विपद बन के आ रहे हैं वो तो ऐसा उनकी क्या भरस है कहा प्रत्यय कहा पहले पाया है प्रत्यय उनमें क्या भरोसा क्या विश्वास है इसलिए संसार की वस्तु के प्रति आस्था नहीं रखते हुए संसार की वस्तु के प्रति आस्था नहीं रखते भगवान के प्रति आस्था रखो भगवान में यदि आस्था आएगा तब क्या होगा कि सांसारिक वस्तु की रक्षा हो जाएगा और अपना पारमार्थिक भी रक्षा हो जाएगा जैसे संसार में रक्षा करने का कोशिश करेंगे केवल ना संसार रक्षा होगा तो भगवान तो गया ही गया एक श्लोक आता है हमारा इसमें वो भंडर कर पास बुक में वहां पे ये श्लोक बड़ा सुंदर है वहां पे क्या बोलते हैं देखो जो नित्य वस्तु को छोड़ करके अनित्य वस्तु का सेवन करता है वो क्या करता है कि वो नित्य वस्तु तो उसका गया और अनित्य तो कभी साथ देखा नहीं जो ध्रुवानी परित्यज्य ध्रुवम परिषेवते ध्रुवानी तस्य नश्यंती और ध्रुवम नष्टम जो नित्य वस्तु को छोड़ करके अनित्य वस्तु के सेवन करते रहते हैं उसको क्या हो गया कि नित्य वस्तु जो था उसको तो आपने छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा वो आपका साथ देने वाला नहीं है और जो अनित्य वस्तु वो तो पहले से ही साथ में नहीं है इसलिए यहाँ पे जो है बहुत सुंदर करके इसको समझाया कि ये जो ध्रुवानी परित्यज अध्रुवम परिसेवते ध्रुवानी तस् नश्यंती अध्रुवम नष्टमेव तद जो नित्य वस्तु को छोड़कर का नित्य वस्तु का सेवन करता है तो आपने नित्य वस्तु को तो छोड़ दिया परमात्मा को छोड़ दिया यद्यपि परमात्मा की कृपा तो हमारे पास हमेशा बना रहता तो हम उसका अनुभव नहीं कर पाते अब तो नित्य वस्तु आपने छोड़ रखा अनित्य वस्तु तो हमेशा ही छुटा हुआ है उसको तो कुछ कर देने वाला नहीं है इस प्रकार से दोनों तरफ चला जाता है धर्म अर्थ काम भी ठीक से पूरा नहीं हो पाता और मुक्ति तो होना संभव ही नहीं है इस प्रकार से जो है मन संसार से बुद्धि उठा करके भगवान में मन को लगाओ आपका दोनों चीज सिद्ध हो जाएगा परंतु यदि केवल मात्र संसारिक मोह में फंसा रहोगे आपको नित्य भी गया और नित्य भी गया अपना नित्य तो जाने वाला है वो भी रिश्ता ही नहीं है इसलिए आगे और देखिए बोलते हैं चेतश्चिंतय मारमाम शक्ति दिमाम अस्थायनीम आस्थया भूपाल भूकुटी कुटी विहरन व्यापार पन्नांगनाम कंथा कंचुकिन प्रविश्य भवन द्वाराणि वाराणसी रत्था पंक्तिषु पानिपात्र प्रतितां भिक्षाम अपेक्षा महे हाँ? ये जो बोला गंगा तीत में जाके बैठो तो जीवन कैसे चलेगा तो उसको लेकर के बोल रहे देखो चेतश्चिंत मा रमा शक्रिमाम अस्थायिनीम आस्थाया भूपाल भ्रूकुटी कुटी विवरण व्यापार पन पन्नांगना कंथा कंचुकिन प्रविश्य भवन द्वारा निवाराणसे रथा पंक्तिषु निपानि पात्र पतितां भिक्षाम मे बोलते तो हे चित्त ये जो अस्थाई अस्थि भूपाल भूकुटी कुटी ये जो मतलब जैसे कोई मतलब चंचल मती स्त्री इधर उधर इधर उधर घूमते रहते इस प्रकार तुम भी ये जो है लक्ष्मी ये ऐसा ही है इधर उधर भागती रहते लक्ष्मी आस्था है उसको उसके ऊपर आस्था मत करो क्योंकि वो बहुत चंचला है वो बहुत चला कब किसी का साथ देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है अब समझा रहे क्योंकि ये हमारा इसने बताया जो गोपी पंचकम में श्री इव कंथाम अपि जो कुछ संयंत इस प्रकार तुमने मतलब लक्ष्मी को भी ठुकरा दिया इस प्रकार शरीर धारण के लिए वस्त्र के प्रति भी कोई आप, आपको मत रखो कौपी न बंद खलु भाग को बंद उसमें बोलता है कंथा में बसवेम अपनी कुछ संयंत्र जिस प्रकार वस्त्रों की कोई परिग्रह की इच्छा नहीं है इस प्रकार लक्ष्मी के प्रति भी कोई इच्छा मत रखो क्योंकि वो बहुत चंचल है वो किसका साथ देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है इसलिए जो ये, ये राजाओं की तरह जाने वाले अथवा जो उसी के धन उपार्जन करने वाले माता जैसे राजकुल में जाकर के इस प्रकार अस्थिर लक्ष्मी को तुम कभी भी आकांक्षा मत करो उसका क्योंकि वो जो उस लक्ष्मी के स्वभाव से बिल्कुल जो है वो एक बार बारवनिता जैसा है लक्ष्मी की स्वभाव वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर से लक्ष्मी को कभी जो है उसके ऊपर भरोसा मत करो उससे भी अच्छा उससे अच्छा तो ये है कि जो है कि कंथा कंचुकी न प्रविश्य फटा फूटा कोई जो कपड़ा कुपरा होगा उसी को आश्रय करके भवन द्वारा वाराणसी वो जो है वाराणसी की नगरी में भगम शिव जी के नगर में बृहदार में उनके दरवाजे में जाके बैठ जाओ रथा पंक्ति छुपाने पात्र रास्ते में बैठ करके हाथी तुम्हारा जो है खाने के लिए पात्र है जो उसमें मिल जाएगा उसको खा करके जीवित कोई भी पर मतलब बिना किसी परिक्रह के बिना किसी परिक्रह के जीवन धारण की इच्छा रखो इस प्रकार से जो अन्य वस्तु को क्योंकि पहले श्लोक में क्या बोलकर गाया कि ये कभी साथ देने वाला नहीं है कि भगवान शिव जी एकमात्र ये स्त्री तो क्या होता है वो फेन बुजबुत रंग की तरह अत्यंत चंचल है और सूर्य वर्ग तो जो है सांप अथवा अग्नि के जाला के समान है उसी के ऊपर वर्षा नहीं करते हुए वैराग उत्पन्न करने के लिए इसको मन में स्थिर करके रखना है और क्या करा भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न करो और क्यों लक्ष्मी क्यों हमारा साथ नहीं दे सकता है क्योंकि स्वभाव से ही वो चंचला है स्वभाव से ही चंचला है कब तक हमारे पास रहेगा कैसे रहेगा इसका कोई गारंटी क्योंकि उनके स्वभाव ऐसा है कि वो चंचल होते हैं इसलिए हे चित्त वो जो जो मतलब अमीरों के पास जा करके पैसा मांगने की इच्छा रखते इस प्रकार जो मन और धन तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है इसलिए उसकी इच्छा को छोड़ करके बस चाहे एक फटा कपड़ा हो थोड़ा लज्जा निवारण निमित्त हो और शिव जी के दरबार में जाकर के हाथ फैला के बैठ जाओ बस जो भगवान देंगे उसी के ऊपर जीने की इच्छा करो ये जो है मुख्य रूप से उसी से ही हम लोग जो है तृप्त रह गए देखिये भिक्षाम अपेक्षा महे मतलब जब महे महे महे ये फर्स्ट पर्सन नंबर है मन को बोल डाले मन चल तो और मैं चलते वहां कर उसी से हम लोग संतुष्ट रहेंगे क्यों जो है दूसरे की भूलकुटी के करके तीक्ष्ण करके जो कुछ देता है जो दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया जितना मिलेगा उससे शरीर धारण हो ही जाएगा शरीर का आपका प्रोडक्ट जो है अपना उसी से जो मिलेगा उससे काम चलाएंगे क्यों दूसरे के दरवाजा पे विषय भूख की इच्छा से ये मिल जाए वो मिल जाए भावना मन में रखना ही नहीं है ये भावना मन में रखना ही नहीं है क्यों क्योंकि यही मन जन्मांतरी संस्कार इतना तीव्र बैठा हुआ है मन उसको करते हुए भी छोड़ नहीं पाता इसलिए चाहते हैं कि संसार बंधन से मुक्त हो जाए परंतु जन्मांतरी संस्कार फिर एक से दूसरा दूसरा से तीसरा इस प्रकार एक छोड़ता तो दूसरा चीज आके पकड़ देता है उसको बिल्कुल मन से हटा देना है कि ठीक है प्रारब्ध बचा जहाँ पे ले जाएगा जैसा ले जाएगा रखेगा परंतु लक्ष्मी के प्रति भी नहीं देखना है कोई भोग को वस्तु के प्रति भी नहीं देखना जितना पाठक जैसे आ रहा है उसमें उसमें भी जितना आवश्यकता है ठीक है नहीं तो जाए जहां पर जी जाए पर आ रहा है जिसका काम आएगा आएगा हमें उसका चिंता भी नहीं रखना तो इस प्रकार से जो है मन को बार बार बार बार समझा करके बुझा करके संसारिक वस्तु से उठा करके भगवान शिव जी के तट पे लाना शिव जी पे लगाना है मन शील मतलब कल्याणकारी आत्म तत्व में मन को लगाना है और उसके लिए जीविका का क्या करना है पास शिव जी के दरवाजे पे जा करके हाथ रूपी भिक्षा पात्र लेकर के बैठ जाओ और सबके के प्रति आशा छोड़ दो भगवान जो देंगे बस उससे जी इस भावना को दृढ़ करके मन में रखने से बस तब मन शांति से जी सकता है हम जो है केवल आत्मचिंतन में यही मेरा स्वरूप है मैं असम हूँ व्यापक हूँ वैराग्य के बिना नहीं होता देखिए उपनिषद से कई बार बताया कि पुत्र शना वित्त शना लोकेशना से ऊपर उठे बिना आत्मज्ञान होता नहीं है श्रवण मनन में उत्साह नहीं आता उसका फलीभूत होना तो और बात है एतम एतम वेतम आत्मा मिलित भगवान भाष्यकर कुछ भी अथवा विद्वान कुछ भी अपने मन से नहीं लिखते हैं शास्त्र ने जो कहता है एतम वेतम आत्मा नम विदिता ब्राह्मणा पुत्रेशना वित्तेषणा लोकेशना बुत्ताय अथवा भिक्षाचर्चम चलंती बस इस इस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए उत्तृष्णा पर उठ करके केवल के माध्यम से जितना प्रलब्धवशतात है उसमें संतुष्ट होकर के समय केवल आत्मचिंतन में लगाना है ना भिक्षा के लिए व्यय करना है ना किसी वस्तु के चिंतन के लिए व्यय करना बस केवल आत्मचिंतन केवल अपने में रहना बस यही जीवन के लक्ष्य है और इसी से परम शांति की प्राप्ति होती है और यदि कोई व्यक्ति इसको कर पाता है तो उ, उनको लगेगा कि भाई हमारे मैं तो शार्थी बन गया तो नहीं आप शार्थी नहीं बने इससे क्या होता है पूरा समाज की कल्याण होता है पूरा समाज की कल्याण होता है एवं एक कहे हिमालय में किसी भी कोने पे कोई ऐसा तत्व ज्ञानी पुरुष की एक श्वास प्रश्वास भी समस्त प्राणी के कल्याण के लिए होते हैं क्योंकि वो समस्त प्राणी से अपने एकत्व को समझते एकत्व का अनुभव करते हैं और समस्त जीव के कल्याण के लिए भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं कहाँ बेचारा अंधेरे में फंस करके अज्ञान में दुखी हो रहा है वो तो आनंद स्वरूप है दुख का साथ कोई संबंध ही नहीं है फिर भी अपने को दुखी मान करके उससे मुक्त होने का प्रयास करते इसलिए यदि इसमें मन लगा पाएंगे तो उसमें सबसे अधिक कल्याण होता है संसार का जीव का अपना तो होता ही है भगवान जी के पास इस अभिप्राय से यहाँ पे बोल रहे कि मन बस यहाँ से मन को उठाओ भगवान की चरणों में लगाओ बार बार इसी चीज को घुमा घुमा के बोल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जहाँ पे मन लगा रहे हो वहां से तुम्हें मदद मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई निश्चय नहीं है परंतु भगवान की चरण से कभी तुम्हारा मतलब भगवान कभी हमसे मुंह घुमाएंगे नहीं हमारे लिए जितना भी आवश्यक जैसा वस्तु है वो उससे अधिक देकर शरीर रक्षा करेंगे और क्या जिस शरीर से जिस काम को ईश्वर को कराना है उस शरीर को रक्षा करने की जिम्मेदारी भी भगवान की होती है ये बहुत ही और भी सूक्ष्म बात जो जिस शरीर से भगवान को जिस काम को कराना है उस शरीर को उतना तक रक्षा करने की जिम्मेदारी भी भगवान की है इसलिए भगवान के ऊपर ही छोड़ देना है भगवान के ऊपर ही छोड़ देना है जिस काम कराएंगे उसी को करना है और उसके लिए वो भी चाहिए तो वो भी जाएगा क्या चिंता इससे ईश्वर के प्रति निष्ठा आस्था और बढ़ जाते हैं मान भगवान में लगा रहता है ठीक है अब यहीं पे रखेंगे फिर जो है कल आते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण